created की महती कृपा से ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से आज हमने उत्तम कार्यों का संपादन किया साधक को प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को सफल बनाने हेतु परस्पर एक दूसरे पदार्थ से व्यक्ति से संबंध का परिज्ञान करना पड़ता संसार में एक व्यक्ति जो कुछ कार्यों का संपादन करता है वह दूसरे से संबद्ध होकर मिलकर के काम को करता है लौकिक व्यक्ति सामर्थ्य से कुछ भी काम नहीं कर सकता जब ऐसी अवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूपेण एक अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकता जिन जिन पदार्थों से उसका संबंध है जिन जिन वस्तुओं से वो सामर्थ्य को प्राप्त करता है उन वस्तुओं का परिज्ञान और उन वस्तुओं से यथार्थ संबंध का परिज्ञान और तदनुसार व्यवहार उसको करना ही पड़ता है संसार में जो व्यक्ति अपने से संबद्ध पदार्थों के स्वरूप को जानता है और उन पदार्थों से उचित व्यवहार करता है वह व्यक्ति सफल होता है उदाहरण के रूप में से चल के आए योजना बनाई सब साधन उपस्थित किए और आपने इस बात को जाना कि आर्यवन विकास में जाकर के हम योग विद्या को दर्शन विद्या को उपनिषद विद्या को ब्रह्म विद्या को ऋषियों की विद्या को वहां जाकर के सीखेंगे ये आपका मन बना बुद्धि बनी और किससे सीखेंगे सिखाने वाला कौन है सिखाने वाला कितना विद्वान है सिखाने वाला कितना आशीर्वान है सिखाने वाला व्यक्ति कितना गुरुक्रम स्वभाव में संपन्न है उस व्यक्ति के सारे की सारी रूपरेखा को व्यक्ति कुछ न कुछ जानेगा तभी वो चल के आएगा यदि उसको परिज्ञान में हो पता नहीं चले कि सिखाने वाले का ये स्वरूप है और उस सिखाने वाले व्यक्ति से मैं ऐसे सीख सकता हूं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूं तब तो वो विद्या सीखी जा सकती है तब तो उसको सफलता मिलती है गुरु और शिष्य की बात जहां तक है कि उचित संबंध गुरु शिष्य का जब होता है उस समय गुरु शिष्य के माध्यम से विद्या सीखी जाती है यदि गुरु शिष्य का संबंध ठीक न हो तो विद्या नहीं सीखी जाती जड़ पदार्थों से संबंध और चेतनों से संबंध है इतना ही संबंध की सीमा बहुत आगे बढ़ती है जीवात्मा अपने आप से कैसा संबंध रखता है मोटी भाषा में दो का संबंध बोला जाता है पर जीवात्मा अपने साथ कैसा व्यवहार करता है वो नहीं जानता अर्थात स्वयं से यदि जो व्यवहार नहीं करना जानता वो दुनिया में विफल हो जाएगा आत्मा स्वयं सामर्थ्यवान है और और सामर्थ्य उसके उपास में उपस्थित जितने भी हैं इस सारे के सारे समुदाय को जो नहीं जानता वह व्यक्ति जीवन में सफल कदापि नहीं हो सकता आत्मा को आवश्यकता है ईश्वर के आनंद की और व्यक्ति ये जानता है कि मुझे तो खाने पीने में ही आनंद मिलेगा पांच इंद्रियों का भोग ही अंतिम मेरा भोग है इसके अतिरिक्त मेरा कोई भोग नहीं है इसका ये अभिप्राय निकला जीव आत्मा ने अपने साथ अनुचित व्यवहार किया आप समझे नहीं समझे इसलिए गीता के शब्दों में लगभग ऐसे वाक्य बोले गए आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है प्रत्येक व्यक्ति जब ये जानता नहीं कि मैं क्या हूं मेरी खुराक क्या है मेरा मेरे साथ कैसा संबंध कैसा व्यवहार होना चाहिए वो अपनी हानि करेगा जीवात्मा ये जानता है मैं तो ये एक पिंड हूं ये शरीर हूं और खाना पीना मेरी खुराक है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि वो जीवात्मा विफल हो जाएगा जीवात्मा अपने से और अपने साधनों से ठीक परिज्ञानपूर्वक पूर्वक संबद्ध होकर चेष्टा नहीं करता विफल होता है एक व्यक्ति बड़ी तीव्र गति लाइट वाली चीज को देखता है टेलीविजन को देखता है और उसको किसी ने बतलाया अच्छे बुद्धिमान डॉक्टर वैद्य ने कि आप इसको चित्रों को देखते रहे आपकी आंखें कुछ ही दिनों में एक वर्ष में छह महीने में खत्म हो जाएंगी अब वो उसको छोड़ नहीं सकता वो कहता मैं देखे बिना रह नहीं सकता अपने साधनों से अनुचित व्यवहार करता है जीवात्मा ऋषियों ने कहा संयम से रहो ब्रह्मचारी रहो और ब्रह्मचारी से विपरीत आचरण करता है जीवात्मा तो अपना विनाश कर लेता है इसलिए यहां पर जानने की विद्या है संबंध की विद्या हम प्रत्येक क्षेत्र में इंद्रियों से मन से शरीर से गुरु से माता पिता से राजा से प्रजा से ईश्वर से सबसे ठीक संबंध स्थापित कर ले तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी इन संबंधों का परिज्ञान व्यक्ति को हो अब वेद के अंदर जो जीवात्मा का संबंध बताया गया उसको सुनो त्वम ही न पिता वसो ये मंत्र है जीवात्मा का संबंध ईश्वर के साथ में कौन सा है अब जो व्यक्ति इसको नहीं जानता वो ईश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सकता जीव आत्मा का संबंध ईश्वर से पिता पुत्र का संबंध है पिता माता पुत्र माता का संबंध है अर्थात ईश्वर जीवात्मा का पिता है और जीव ईश्वर का पुत्र है ईश्वर जीव की माता है और जीव ईश्वर का पुत्र है ये संबंध हमारा और ईश्वर का है यदि हम इस संबंध को समझते हैं तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी और यदि हम इस संबंध को नहीं समझते तो निश्चित रूप में विफलता मिलेगी इसमें कोई विकल्प नहीं कोई विकल्प नहीं है इससे बच करके कोई व्यक्ति और इस संबंध को जो नहीं जानता या गलत संबंध ईश्वर से जोड़ दिया जिसने वो दोनों ही व्यक्ति विफल हो जाएंगे माता होते हैं उनमें और ईश्वर के संबंध में अंतर देखते जाइए आप और लोक में जो माता पिता है उनसे हम ईश्वर की अपेक्षा अच्छा व्यवहार कर लेते हैं माता पिता को अच्छे धार्मिक बालक बालिकाएं बेटा बेटी वो उसका आदर करते हैं उसके साथ उचित व्यवहार करते हैं उसको अपना रक्षक मानते हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हैं अच्छे धार्मिक पुत्र पुत्रियां पर आप ईश्वर देखो आपका और ईश्वर का क्या लौकिक पिता जितना संबंध है आप बोलिए आपका लौकिक माता पिता से जो आपका संबंध है क्या ईश्वर से उतना गाढ़ा गहरा संबंध है आपका है तो विफल हैं आप आज भी विफल हो जाएंगे लौकिक माता पिता से संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए और ऋषियों ने यह भी बतला दिया कि मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव अर्थात इनको माता को पिता को अतिथि सन्यासी विद्वान को गुरु को देवता मानो यह ठीक है अब इनको भी देवता मानना है इनसे हमें गलत संबंध नहीं रखेंगे परंतु यथा योग्य व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो जितना संबंध और जितनी उपयोगिता ईश्वर के साथ में होनी चाहिए उतनी न होकर के लौकिक माता पिता से हमारा संबंध अधिक है उससे हम अधिक गहरे संबंध जोड़ते रखते हैं और ईश्वर से संबंध नाम मात्र का है यदि आप हृदय को टिटोल के देखो बैठ के देखो ध्यान में आप कभी संध्या के काल में देखा करो एक घंटा तक बैठ के आप आत्मनिरीक्षण कर लो कि जैसे लौकिक पिता को आप साक्षात देखते अर्पित कर देते आप कहते मैं आपके आदेश का पालन करूंगा पिताजी कोई सेवा बताओ और मैं आपके अर्पित हूं क्या आप भगवान के अर्पित होते हैं ऐसे उसका कोई संबंध नहीं जुड़ा हुआ पहले तो इसके दिमाग में ईश्वर नहीं बैठ रहा है ईश्वर है भी या नहीं ये झंझट है आपके भी आता होगा ये जितनी गहराई में आप जाएंगे सूक्ष्मता में जाएंगे संशय की मात्रा और बढ़ जाएगी और संशय जब तक रहेगा तब तक आप योग में गति नहीं कर सकते एक व्यक्ति थे आर्य विचार के व्यक्ति थे ऋषि भक्त थे बड़े स्वाध्यायशील थे बुद्धिमान थे और लाखों रुपया ऋषियों की पुस्तकों के प्रकाशन में लगाने के लिए जुटे हुए थे मैंने उनसे पूछा कि आप ये बतलाइए कि जब ध्यान में बैठते हैं आप तो क्या आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं शत प्रतिशत आपके दिमाग में बैठती है क्या वो आर्य विचार के व्यक्ति कहते हैं कि वस्तुतः अनेक बार ऐसा होता है कि मैं जब ध्यान में बैठता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात उलझन खड़ी होती है कि जिस ईश्वर की मैं खोज कर रहा हूं पता नहीं वो है या नहीं और आपके सामने ये समस्या जरूर होगी आप बच नहीं सकते इससे बचने का उपाय केवल एक ही है महान गुरु उनकी परीक्षा कर आत्मसमर्पण करो सीखो गुरु आचार्य वेद ऋषिकृत ग्रंथों के अनुसार होना चाहिए और ऋषिकृत ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ो वेदों के अनुसार सोचो ऋषियों ने जो कसौटी बताई उनको रखो परीक्षण करो उन सारी चीजों को जब जुटाएंगे आप तो संदेह संशय दूर हो जाएगा अन्य का संशय दूर नहीं हो सकता या तो भ्रांति होगी या संशय होगा या आप बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे कई लोग ये कहते हैं कि हम तो उलझ गए हैं बड़ी उलझन पैदा हो गई कैसे हो गई एक व्यक्ति तो ये कहता है ईश्वर है और एक कहता है ईश्वर नहीं है हम किसकी बात को माने अब वो व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता ईश्वर है या नहीं है एक झंझट उलझन दूसरा कहता ईश्वर है ये तो जच गया पर एक झंझट और उपस्थित हो गया एक संदेह और हो गया एक कहता है ईश्वर साकार है और दूसरा कहता है निराकार है अब इसे मूल जाओ चर्चा थी कभी की उसका अंश सुनाता हूं उस व्यक्ति से मैंने पूछा बातचीत चल रही थी कि आप ईश्वर को निराकार मानते हैं या साकार मानते उसने ऐसा भाव सुनाया कि देखो जब मारिय समाज के विद्वानों से उपदेश सुनता हूं जो तो मुझे निराकार जचता है और जब अवतारवादी भाइयों से सुनता हूं तो मुझे साकार जचता है अब ईश्वर की अवस्था है गंगा गई तो गंगा दास और यमुना गई तो यमुना दास अब इस पुजारी का पूजा करने वाले का उपासना करने वाले का जप करने वाले का ध्यान करने वाले का जीवन लड़खड़ा गया जम नहीं सकता ये लाखों करोड़ों लोग भक्ति उपासना योगाभ्यास दिन रात करते पर उनकी स्थिति ऐसी ही है वही विकास की बात आज तक नहीं आई इसलिए ये जो संशय उत्पन्न होता है इसको दूर किया जाता है और जो संशय को जब दूर कर देते हैं उस समय ईश्वर से संबंध जोड़ने की बात उपस्थित होती है ये करदीप है क्या बोलते हैं आप इसको टॉर्च बोलते हैं टॉर्च ये है हम इसको जानते ये प्रकाश देता है इसके ऊपर पैसे लगाते हैं इससे जब अंधेरा होता तो झट से प्रकाश कर लेते हैं और ढूंढते हैं बड़ा प्यार है अच्छा अब भगवान के साथ में ऐसा प्यार नहीं है इसका मूल्य अधिक है या भगवान का सिद्धांत में भगवान का व्यवहार में इसका ऐसा होगा संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति जिससे संबंध स्थापित करता है उसके गुण कर्म स्वभाव शक्ति सामर्थ्य को सब विशेषताओं को जानता है अथवा उन वस्तुओं से संबंध स्थापित करता है उनके दोषों को भी जानता है संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति को गुण भी जानने पड़ते हैं और बोलो रही दोष भी जानने पड़ते अब घरों में जो संबंध जोड़ते हैं ये हमारा संबंध ही बने वो हमारा संबंध ही बने तो उस परिवार के दोष भी जानने पड़ते हैं और गुण भी जानने पड़ते हैं तो ईश्वर से संबंध पिता और पुत्र का है ये संबंध व्यक्ति को करना आना चाहिए ईश्वर के साथ ये संबंध स्थापित करना चाहिए ऋषियों ने एक उपाय बताया कि ईश्वर के विषय में जो संशय है संदेह है अथवा ये कि ये ईश्वर है या नहीं है ये जो संदेह बना हुआ है साधकों को जिज्ञासुओं को शब्द प्रमाण के आधार पर और अनुमान प्रमाण के आधार पर अपने संशय को दूर कर देना चाहिए संशय को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण तीनों काम करते हैं ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते अर्थात जब तक व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर योगी बन कर ईश्वर को नहीं देखता वो किसी भी स्थिति में दूसरी में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर पाता तो उस अवस्था में तो आप हैं नहीं आप हैं ईश्वर की प्राप्ति करने के इच्छुक ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहले यह निर्णय होगा कि ईश्वर है यह निर्णय हो जाएगा अब जब यह निर्णय हो जाएगा ईश्वर है फिर ईश्वर कैसा है उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं यह निर्णय करना पड़ेगा फिर यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि उसके लिए उसकी प्राप्ति के लिए साधन कौन से हैं यह भी निर्णय करना पड़ेगा तो यहां पर अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से निर्णय कर लेना चाहिए आपने आर्य समाज के दस नियम पढ़े हैं आप बताइए आपको याद है तो आर्य समाज के दस नियमों में से पहले नियम में और दूसरे नियम में ईश्वर का वर्णन है सर्वशक्ति विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है अब ईश्वर का संक्षिप्त रूप से लक्षण हो गया सारी सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है और जो चीजें भूतों से बनी है अर्थात प्रकृति से बनी है उनको बनाने वाला निमित्त कारण आदि मूल भी परमेश्वर है ये हमको पता चला सारी विद्याओं का जो मूल है आधार है सारी विद्याएं जहां से प्रचलित होती है सारी विद्याओं को जो पढ़ाने वाला है सारी विद्याओं को जो देने वाला है वो सत्य विद्या ही है मिथ्या ज्ञान तो इस रूप है ही नहीं उनका आदि मूल परमेश्वर है ऐसा जो पदार्थ है और प्रकृति से जितनी चीजें बनती हैं उनका निमित्त कारण उपादान कारण नहीं निमित्त कारण आदि मूल जो है वो ईश्वर है कौन है ईश्वर सब सत्य विद्याओं का जो आदि मूल है और प्रकृति से बने बनाए जाने वाले पदार्थों का निमित्त कारण आदि मूल है वह ईश्वर है ये एक सीधा लक्षण में गए परोक्ष रूप में लक्षण हो गया अब दूसरे सूत्र दूसरे नियम में जो बात कही कि जो आदि मूल परमेश्वर है सब सत्या विद्याओं का और पदार्थों का वो है कैसा अच्छी तरह से वर्णन करो ईश्वर सत्यचित आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक है सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य तो ये शब्द प्रमाण से हमको ईश्वर मिला अब हमको चाहिए कि ये जैसा ऋषि ने लिखा और जैसा वेदों में लिखा वो हमको तो स्वीकार है तो इस आधार पर हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ने में अग्रसर हो सकते हैं समर्थ हो सकते हैं नहीं तो कोई और उपाय नहीं दिखता है आप ईश्वर को जानते नहीं पहचानते नहीं आपने ईश्वर को देखा नहीं समाधि में अब वो प्रत्यक्ष प्रमाण से तो संबंध जोड़ नहीं सकते अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण काम करते हैं यहां पर इसलिए अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण से निर्णय कर लेना चाहिए कि ईश्वर है और ऐसा है और फिर हम संबंध जोड़ेंगे अब ईश्वर से ईश्वर है और ऐसा है पर हमारा और ईश्वर का क्या संबंध है ईश्वर तो है और है ऐसा और उस ईश्वर का हमारा क्या संबंध है इसलिए वेद मंत्र में बात कही तुम ही न पिता वसो सबके बसाने वाले सबके आधार परमेश्वर है तू ही हमारा पिता है और तू ही हमारी माता है इसलिए एक गाया करते हैं ना हम क्या गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बन्धु ससका तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव ऐसे संबंध को जोड़ना चाहिए अब इसको यहीं पर विराम दिया